क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और तुम मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे फिर तुम कब्रों से निकाले जाओगे